और अल्लाह ताला ने तुम्हें एक दूसरे पर रिस्क में फजीलत दी है तो जिन लोगों को फजीलत दी गई वो अपना रिस्क उन पर लौटा देने वाले नहीं हैं जिनके मालिक उनके दाएं हाथ हैं कि फिर वो उसमें बराबर हो जाएं तो क्या वो अल्लाह ताला की नियमत का इनकार करते हैं